अह पैगंबर उन काफिरों को राह रास्त पर ले आना आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त पर ले आता है और जो माल भी तुम खर्च करते हो वो खुद तुम्हारे फायदे के लिए होता है जबकि तुम अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के सिवा किसी और गरज से खर्च नहीं करते और जो माल भी तुम खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम पर ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا